अजर है अमर की घड़ी ठीक चल रही है ये मिली हुई है एक चतुर्थो मंत्र प्रतिशते व्याख्या प्रतिशत आज यजुर्वेद के इक्कीसवें अध्याय का चौथा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओम त्रिभा कही गई है वेदों में ईश्वर का वर्णन बहुत अधिक होता है लोक में भी यह बात परिज्ञात है कि बुद्धिमान लोग सबसे अधिक उपयोगी वस्तु का बार बार अधिक वर्णन करते हैं इसलिए ईश्वर प्रमुख है मुख्य है सबसे उत्तम उत्कृष्ट है सब का संचालन करता पूरा विश्व ईश्वर से ही जीवित रहता है उसकी पदे पदे कृतज्ञता अभिव्यक्ति के रूप में रखी जाती है ये जानना चाहिए और ऊबना थकना अनिच्छा हो जाना ये स्थिति अपने ऊपर नहीं आने देनी चाहिए बार बार ईश्वर के विषय को सुन सुन करके व्यक्ति बार बार पढ़ता है उसी की व्याख्या सुनता है उसी की चर्चाएं होती है तो न समझने वाला व्यक्ति उब जाता है अनिच्छा हो जाती सत्य के प्रति अनिच्छा का होना हानिकारक है जो बात जैसी है उसको उतना ही दोहराना उतना ही पढ़ना उतना ही जानना आवश्यक है इसलिए अनिच्छा क्यों करें हम उसको संसार में सुख કિસમ છે એની ઈચ્છા રહેતી अनिच्छा होती ही नहीं आप क्या अनुभव करते हैं संसार में सांसारिक व्यक्ति व्यक्तियों की क्या सुख की अनिच्छा होती है क्या क्यों नहीं उब जाते उससे उब करके कहने लगे जी बहुत दिन हो गए हमको सुख की इच्छा करते करते हम नहीं करेंगे ऐसे करने लगे जाना चाहिए था और आज तक तो ऊर्जा दिखाई देता नहीं सब लालायित रहते हैं सुख का इतना महत्व है उगता ही नहीं रात्रि में ही सुख सुख के साधनों को ढूंढता है दिन में भी सुख और सुख साधनों को ढूंढता रहता कभी नहीं उगता पूरा विश्व भरा हुआ है मनुष्यों से कोई नहीं उग रहा कि मुझे सुख और सुख साधन नहीं चाहिए जब अत्यंत आवश्यक है सुख इसी प्रकार से ईश्वर सबसे उत्कृष्ट महान है उसके सुनने पढ़ने जानने में जितना अधिक हम करते जाएंगे उतनी हमको अधिक उपलब्धि होगी तो ईश्वर की विशेषता बताते हुए मंत्र में एक बात कही इस प्रकार से ईश्वर संसार के बाहर भीतर व्यापक होते हुए भी संसार से अलग है कुछ लोग इसको नहीं समझते वो कहते हैं कि अलग कैसे है अलग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बाहर भीतर विद्यमान है तो अलग कैसे हुआ अब एक उलझन खड़ी होगी व्यक्ति के सामने यदि अलग कहे तो व्यापक में माना जाए अरे व्यापक कहें तो अलग में माना जाए अब क्या करोगे आपसे मैं पूछू ईश्वर अलग है हमसे या नहीं हम्म? और ईश्वर सब के ईश्वर बिल्कुल विद्यमान है या नहीं हम्म? फिर अलग कहा हुआ अलग नहीं रहा ना आपको बात दिखती है सरल और करोड़ों लोगों का दिमाग इसमें उलझा हुआ है और उलझे हुए आप भी आप थोड़ी सी आगे उलझ गए होंगे इतना ही अंतर है कोई अधिक उलझा है कोई कम उलझा है हाँ जी वो कभी बोला करता है ना बिने आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखी जिस मैथल में भी देखा है हर एक को भटका पाया है हर मैंबर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ है भोग और धन के सिवाय इसके दिमाग में तीसरी बात नहीं आ रही ये सारे भटके हुए उनका चिन्ह है लक्षण है तो ध्यान आप इसको भटकना नहीं मानते भगवान आपके पास मर कभी उसका आनंद नहीं ले रहे आप भटके हुए हो या नहीं यदि भटके हुए न होते तो ईश्वर का आनंद लूटते आनंद तो मिल नहीं रहा तो पता चला भटके हुए तो एक सिद्धांत है ईश्वर हमसे अलग भी रहना चाहिए और ईश्वर हमारे साथ भी रहना चाहिए ये विज्ञान है ईश्वर हमसे अलग नहीं है ईश्वर हमसे अलग है क्या समझे कुछ समझ में आया नहीं आया नहीं आया तो आगे बैठे वाले को नहीं आया तो पीछे वाले को क्या आया हो तो दो वाक्यों का प्रयोग हुआ क्या ईश्वर अलग नहीं है और ईश्वर अलग है ये हो सर्वव्यापक होने से इस दृष्टि से ईश्वर जीवों से प्रकृति से देश की दृष्टि से दूर नहीं है दिया है जहां पर ये है वहां पर ईश्वर है यानी इसके दागे जहां पर है वहां पर ईश्वर है इसलिए तौलिए से ईश्वर अलग नहीं है पर ये इतना होने पर भी तौलिया और ईश्वर एक नहीं है अब क्या करूंगा अलग अलग ही हाँ, है यदि दोनों एक होते तो ईश्वर से ही मुंह पूछ लेते हम ऐसे तो क्या कर रहे थे ईश्वर से मुंह पूछ रहा अब इस विद्या को नहीं जानने से ये लोग भटके हुए रहते हैं सदा जब ये समझाया जाता है ईश्वर व्यापक है कहते हैं हाँ व्यापक है और महाराज जी मैं तो आपको ही भगवान समझता हूं कितने लोग हैं जब मिलेंगे कहते हम तो जितने ये सन्यासी हैं हम तो इन्हीं को भगवान समझते आपको भगवान का स्वरूप समझता हूं मैंने कहा देखो इसका दिमाग इतना ही काम करता है भगवान का स्वरूप समझता हूं भाई भगवान ऐसा सस्ता है ऐसा ही भगवान को समझा गया है अच्छा इस पुस्तक में आज व्यापक है या नहीं है अब चुपचाप बैठे ये आग बड़ी है या नहीं बड़ी है नहीं आप क्यों नहीं बोलते घबराना नहीं ये समझाने के लिए बोला अगर तो कभी घबरा के कल बाहर जाओ शिक्षण में प्रशिक्षण में अध्यापक देखता है कि विद्यार्थी को समझाया कैसे जाए अन्यथा विद्या समझ में नहीं आती न पढ़ाई जाती न पढ़ी जाती यदि आपको नहीं टोका जाएगा तो ऐसे ही ऐसे ही पढ़े बैठे रहोगे डूबेंगे तो तैयारी करोगे फिर समझोगे हाँ बोलो आग से भरी है या नहीं भरी हाँ। आप क्या कहते नहीं भरी अब बताओ किसकी बात मानी वो कहता आग से नहीं भरी पुस्तक आप कैसे भरी है तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ समझ लिया कि ये आग से भरी हुई है आपने नहीं समझा ये आग से भरी हुई ये आग से भरी हुई है पुस्तक हम इस पुस्तक को आज नहीं मानते आज के काम नहीं ले पाते और हम ये कहते हैं वो आज जो है पुस्तक में व्यापक है उपनिषदकारों ने एक बात समझाई ईश्वर को समझाने के लिए अग्निर यथा भवन वनम परिविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्ठ ये समझाने का प्रयास किया हुआ ईश्वर को ईश्वर व्यापक है ये समझाने का आग जैसे अंगीठी में या किसी लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर के जैसे बीस लोहे के गोले हों या लंबे चौड़े हों तो उसी लंबे चौड़े रूप में दिखाई देती है पर बाहर भी होती है भविष्य अग्निरीय था अग्नि जैसे किसी लोहे आदि में प्रविष्ट हुई है इनमें भी प्रविष्ट है इनमें तो दिखाई नहीं देती तीव्रता नहीं है और लोहे के गोले में अंगीठी में लाल हो जाएगा जब वो हीटर जलाएंगे आप तो उसमें वो, देख सकते हैं वो जो का जो वही रूप वो रूप में रूपम जैसा पदार्थ है ऐसी दिखाई देती है क्या समझे आप जैसा पदार्थ का मतलब है जैसा पदार्थ का मतलब क्या है हाँ ये बात ठीक है आप समझ गए तीनों से ही समझ गए थे तीन वर्ग थे एक बार प्राचीन समय में ऋषि ने तीन प्रकार के शिष्यों को बुला के कहा था आओ उपदेश देता हूं देखा दो दो समझ गए हाँ समझ गए दूसरा वर्ग बनाया क्या कि द समझ गए समझ गए तीसरा वर्ग बनाया द समझ गए समझ आप भी समझ गए अब व्याख्या की आवश्यकता नहीं है यम समय समाप्त होने वाला है ना तो वो जो बात थी आपको समझ में आया यदि ये अंगोच्छा ऐसा है इसको छोड़ दीजिए ये लोहे का कोई है लोहे का ये जैसे आकार दिख रहा है अग्नि भी इतनी आकार में आभाषित होगी फिर गोल गोल होगा तो गोल गोल आभाषित होगी समझाने की बात है कहते देखो भाइयों जैसे लोहे के गोले में जैसे पदार्थ का स्वरूप है अग्नि वैसे ही दिखाई देती है पर वैसे दिखाई देती हुई भी भविष्य उससे बाहर भी होती है इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रत्येक पदार्थ में अग्नि की तरह प्रविष्ट है और उसमें उसके स्वरूप में रहता हुआ भी ईश्वर बाहर भी है और भीतर भी है वायु का भी ऐसी दृष्टांत दिया है वायु का भी ऐसी दृष्टांत अब हमारे शरीरों का ही व्यापक है या नहीं आप क्या मानते और इसमें का ही व्यापक है या नहीं है आग नहीं है हवा तो इनके बैठी मन में हवा तो है क्योंकि इनके मन में ये हो सकता है यदि आग होती तो जला देती ऐसा मन में बैठ सकता है तो ये हवा जो है ये भी ऐसे प्रविष्ट है वायुरेखा ऐसा भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूप हुव एक तथा अंतर्भूत आत्मा एक ही जीवात्मा नहीं एक ही ईश्वर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूप वही प्रत्येक रूप में व्यापक रहता हुआ भी उस रूप के बाहर भी है बनी हुई चीज के और अंदर भी है ईश्वर को समझाने का प्रयास किया गया अब ये विषय समझ में न आने से बड़ी उलझन इकट्ठी हुई एक तो ये हुई कि यदि सब जगह व्यापक मानते हैं तो अलग नहीं माना जा सकता अलग मानते हैं तो फिर ईश्वर व्यापक नहीं है ये दिमाग काम करे क्या समझ में आया आप चुपचाप बैठे हो ये समस्या खड़ी हो गई इसलिए इसका समाधान होना अनिवार्य है यदि इसका समाधान नहीं होता या गलत होता है तो बात परिणाम उल्टे निकले अग्नि का दृष्टांत दिया है मोटे रूप में इससे समझ में आती है बात लोहे का गोला लोहे का गोला है और अग्नि अग्नि पदार्थ दोनों है लोहे का गोला अपना काम करे वो अलग पदार्थ है अग्नि अपना काम करेगी वो अलग पदार्थ है देखिए ये दोनों एक अवसर पर रहते हैं एक जगह पर रहते हैं ईश्वर भी पूरे विश्व में रहता हुआ अलग है और सब जगह व्यापक भी है ये बात तो अग्नि इसमें नहीं जब जब प्रवेश कर जाएगी तब हो जाएगी जैसे आपने दृष्टान दिया ना आप समझ जाओ गोला अलग जी कोई बात नहीं वो एक चुटकला सुना रहे थे एक दिन कौन था वही जवाहरलाल नेहरू पागल खाने में चला गया चुटकला बनाया था वो सदघटना ही भी हो सकती है और एक पागल था उसने पूछा आप कौन है तो कहने का मैं मतलब, जवाहरलाल नेहरू हूं पागल ने सोचा नया पागल आया तो उसने कहा कि हाँ ठीक बात है हम भी पहले पहले आए थे जब ऐसा कहा करते थे तू थोड़े से दिनों में ठीक हो जाएगा समझ जाएगा तू भी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा तो हमारे नाम भूल गया मैं रणवीर जी सिंह जी ये भी समझ जाएंगे अभी समझे नहीं समझने की बात है नहीं लाल जाएगा यही तो रोग है और रोग क्या था रोग रोग इसी का नाम है जो यही बात तो समस्या थी इतनी सरल बात होती तो समझ जाता हाँ, हाँ। तो बुद्धि दोनों यही रणधीर लाठी मारने वाले होंगे बुद्धि धीर नहीं होंगे चलो ध्यान दो एक और समस्या है वो इसे कुछ सूक्ष्म साधन जाके जो है हमारे सामने उलझन पैदा करती है वो ये है कि कोई भौतिक वैज्ञानिक इसमें प्रश्न उठा सकता है कि लोहे के गोले में तो छिद्र होते कण है परमाणु क्या समझे आप परमाणु परमाणु के साथ परमाणु है परमाणु के साथ परमाणु है इसका मतलब दाए बाए ऊपर नीचे छिद्र रहते क्या समझे आप अवकाश है अवकाश है अब हम जो चावल पकाते हैं तो कढ़ाई में से पतीली में से अग्नि काशी चावल पकाती है जाए खाने में तो बात पड़ती है पता नहीं रहे आग में नीचे चलती है और वो पानी में पकते हैं चावल है कैसे पकते हैं पानी अंदर प्रवेश हैं वह हैं तो नीचे पकती है अग्नि लाल जी बताएंगे तो नूरणदी वो अग्नि आएंगे ना एकदम प्रवेश आप देखो इसकी हाँ बिल्कुल तो आगे करना दूसरी बात इतनी ही बहुत है रणदी जी दोनों याद करेंगे कि वह चौल कैसे पकड़ी अग्नि तो रूप दिखाया नहीं जलती बलती दिखाई देती तो ध्यान तो वो प्रश्न उठा सकता है कि लोहे के गोले में दो परमाणुओं का झुंड है बाएं गाय छिद्र रहते हैं बात ठीक है पर याद रखना वो प्रश्न उठा सकता है कि एक परमाणु जहां रहता है वह दूसरा परमाणु नहीं रहता कारण क्या है कि परमाणु जगह को घेरता है एक दीवार जहां है दूसरी दीवार वहां पर खड़ी नहीं हो पाती एक ईंट जहां खड़ी करो और दूसरी ईंट नहीं खड़ी हो पाती क्यों एक ईंट जगह को घेरती है जो ईंट जगह को घेरती है तो परमाणु भी क्या कारण है ईंट जगह को घेरती है तो परमाणु की जगह को घेरता है इसमें क्या कारण है हाँ, परमाणुओं से बनी हुई है तो जब ईंट जगह को घेरती है तो परमाणु की जगह को घेरता ये पता चल गया पता चला कि वहां पर दाए बाएं अग्नि प्रवेश करगी लोहे के तो कणों के तो क्या ईश्वर भी ऐसा ही प्रवेश है जैसा अग्नि का प्रवेश दाए बाएं परमाणु के दाए बाएं दाए बाएं क्या ईश्वर का भी ऐसा प्रवेश नहीं इसका समाधान ये है कि परमाणु जगह को घेरता है और ईश्वर जगह को नहीं घेरता अग्नि के परमाणु की जगह को घेरते हैं और लोहे के परमाणु की जगह को घेरते हैं परंतु परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव ऐसे हैं कि वो जगह को नहीं घेरते देखो जिसमें छूने का गुण है रूप है सरलता है भार है ऐसे पदार्थ जगह घेरते लेके जाते क्या समझे भेद बोलो रे नीरो जिसमें रूप है स्पर्श है भार है तरलता है वो जगह को जिसमें रूप नहीं रस नहीं भार नहीं वो जगह को ईश्वर में रूप नहीं रस नहीं भार नहीं स्पर्श गुण नहीं इसलिए ईश्वर जगह को इसलिए वो परमाणुओं में भी व्यापक रहता है कोई बाधा पड़ती नहीं ठीक है अब समय हमारा समाप्त हो गया विराम